ईश्वर प्रणिधानम तस्मिन परम गुरु सर्वकर्मापण ईश्वर प्रणिधानी जो अंतिम नियम है उस पर वर्णन कर रहे थे भाषिका ईश्वर प्रणिधान का मतलब तस्मिन परम गुरु सर्वकर्मार्पणम है ना समस्त कर्मों को उस परमात्मा के चरणों में अर्पण करना इसका श्लोक भी जो है स्मृति का बता दिए थे आसन स्थोत परिव्रजन वा स्वस्थ परीक्षीण वितर्क जाल संसार बीज क्षयमी क्षमाण सान्निध्य मुक्तो अमृत भोग भागी और इस विषय पूर्व में भी कथन कर चुके हैं यत्र मुक्तम तथा प्रत्यक्ष क्षेत्र आजगमो अभ्यंतराय अभाव ईश्वर प्रणिधान करने का फल क्या है उसको पूर्व में आप चर्चा कर चुके हैं प्रथम पाद का तीसवें सूत्र नेट संज्ञा तिरानवे पूर्व में जा चुका है इस पुस्तक के अनुसार प्रत्येक क्षेत्राधिकम उसे आपके अपने जीव चैतन्य का पुरुष चैतन्य का स्वरूप का अनुभव आ जाए ईश्वर प्रदान करने से कभी प्रत्येक अधिकम एक तो अधिकम कैसा हो जाएगा किस आधार पर तब कहते अंतराय अभाव जब बाधक जितना विघ्न है पाप है क्लेश है वो नहीं रह जाए अंतराय व्याज इसकी अनादि है वो जब नहीं रह जाएंगे तो प्रत्येक चैतन्य अधिगम स्वतः हो जाता है और उस अंतराय के अभाव कौन करेगा ईश्वर करेगा ईश्वर की कृपा के बिना पुरुष अपने मर्जी से स्वतः ही स्वतंत्रता पूर्वक सकल अंतरायों को दूर नहीं कर सकता जिसके अंदर ईश्वर प्रणिधान की कमजोरी है तो समझ लेना चाहिए वो कभी पूरा पढ़ भी नहीं पाता करना तो दूर की बात कभी कभी यहाँ बारिश होती है बाढ़ आ जाते हैं और कभी कभी ढीले पड़ जाते लोग बारिश कम होती है तो कारण क्या है उनके अंदर ही अंतराय बैठे हुए हैं और बहाना दूसरा कर देंगे आज जो ये हो गया किसको पेट में गैस हो गया किसको सिर में दर्द हो गया इसलिए पाठ बन गया ये सब क्या है आपके स्वकृत कर्मादियों के कारण से विद्यमान अंतराय है बाधाएं और इनका दूरी बिना भगवान की कृपा ईश्वर की कृपा का नहीं इसलिए ईश्वर प्रणिधान से अंतराय का अभाव होगा अंतराय का अभाव से प्रत्येक चेतना अधिगम होगा प्रत्येक चेतना अधिगम होने से जीव ब्रह्म के अनुभूति हो जाती इसलिए ईश्वर प्रणिधान रूप नियम अत्यंत आवश्यक हो गया और ईश्वर प्रणिधान किया कैसे जाए उसके नाम भक्ति सूत्र नवदाय भक्ति का वर्णन का भक्तियों का वर्णन करते हैं और उपनिषदों में अनेक प्रकार सगुण निर्गुण उपासनाओं का वर्णन ये सारी उपासनाएं ईश्वर प्रणिधान के अंतर्गत आता है इनको के बिना निर्गुणानुभूति नहीं हो सकती है इस विषय में इसलिए का कामतो अकामतो वापी यत करो मे शुभम तत्सर्व तय विन्यस्य तत्प्रयुक्त करोम्य हम कहते कामतो अकामतो वापी प्रणिधान का स्वरूप वर्णन कर रहे प्रणिधान कैसे होना चाहिए चाहे कोई कामना पूर्वक आप कर रहे हो चाहे अकामतो वापी बिना कोई कामना का कर रहे हो आप जो कुछ भी किया जाता है यद करोश शुभ जो शुभ कर्म करो चाहे अशुभ कर्म भी कर दो तत्सर्वम वो सारे चीज को त्वी विन्यास उस परमात्मा में विन्यास करके त्याग करके और समर्पण करके यह भाव होनी चाहिए तत्प्रयुक्त करो में हम जो कुछ भी शरीर में हो रहा है काया वाचा मनसा है सर्वेन्द्रिय वो सब कुछ उस परमात्मा की प्रेरणा से हो रहा है कल भी वर्णन हो रहा था कठपुतली नाच ये भाव होना चाहिए ना हम किंचित करता मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं ना मेरे अंदर कुछ करने की क्षमता ही है जो कुछ भी हो रहा है इन सब का कार्यता मेरे ही पूर्व जन्म जन्मांतर अहंकार व किया व कर्मों का फलस्वरूप करा रहा है ये मान यानी कि वो अपनी मर्जी से नहीं कराएगा फिर उस पर दोष लगेगा ईश्वर को अपने मर्जी के अच्छा क्यों करा रहा है किससे बुरा क्यों करा रहा है वो वैसे में निर्घृण्य दोष आ जाता है अरे यह निश्चित है किसी न किसी जन्म में जैसे पुष्पमताचार्य जी का स्त्रोत्र में गाते इसीलिए वो श्लोक यद्यपि सर्वत्र प्रसिद्ध नहीं है वो पुष्प्रादुर्भावाध्यनुमितमिदम जन्म निपुरा इस शरीर प्रकट हुआ है मानते हो ना तुम देवदत्त हो ब्राह्मण अमुक हो दमुक हो आपको अपना शरीर का भान है इसका मतलब पूर्व जन्मों में कुछ न पाप हमने किया है पक्का है जन जन्मांतर हुए हैं और जन जन्मांतरों में अहंकार पूर्वक ईश्वर के अनादर पूर्वक अवहेलना पूर्वक उसकी कर्तृत्व को नकार करके स्वयं एक कर्तृत्व को स्वीकार करके भोक्तृत्व स्वीकार करके हमने कर्म किया है उसी का नतीजा और अब ऐसे कर्म किया जो कर्म कभी ईश्वर को समर्पित हुआ नहीं उन्हीं कर्मों का फल भोग करने के लिए ये शरीर का प्राप्त हुआ पुष्प प्रादुर्भाव अपू मने शरीर इसका प्रादुर्भाव होने से अनुमितम जन्म निपुरा यह अनुमान में करता हूँ पूर्व जन्म में मैंने उस परमात्मा को परमा प्रणाम नहीं किया अर्पण नहीं किया और दूसरी अपराध हम लोगों से होने वाला है उस अपराध के लिए भावी अपराध के लिए अभी से क्षमा मांगना पड़ेगा क्या भावी अपराध है यदि मान लो मुक्त हो गए तो आगे जन्म मिलेगा नहीं तो परमात्मा को प्रणाम कौन करेगा आप नहीं कर पाएंगे तो पहले नहीं किए थे तो भुगत रहे हैं उसका आगे नहीं कर सकोगे यदि मुक्त हो गए तो तो दोनों अपराधों के लिए अभी से प्रणाम भगवान कर देना है क्षमा याचना करना है इधर अपराध में कहा अपराध द्वयम अपी वह यह दो अपराध इस तरह के नमन मुक्त सन नमस्कार करते एक बार मुक्त यदि हो गया तो आगे शरीर मिलेगा नहीं हम प्रणाम नहीं कर सके दोनों प्रकार के अपराध की समय आसना पहले कर लेना चाहिए एडवांस बुकिंग में ताकि जो है आगे गड़बड़ ना हो इसलिए कहते हैं तत्प्रयुक्त प्रयुक्त करो में ये भाव सुधा होनी चाहिए शिवान जी महाराज जी का वचन में बार बार सुनाता हूँ लोगों को वो कहते थे chopping wood and carrying water before enlightenment and after enlightenment the only difference is Before I was doing it, and now it is happening. कहने का मतलब पहले भी मैं लकड़ी काट के लाता चौपिंग बोर्ड लकड़ी काट के लाना जंगल जाते थे लकड़ी काट के पहले जमाने में ऐसा था गैस सिलेंडर नहीं आता था तो लकड़ी काट के लाते थे शौच में गए शौच किए लकड़ी लाट के काट के ले आना फिर नहाने के लिए गंगा जी जाना फिर गंगा से दो बाटी पानी लेके आश्रम में ऊपर आना बने कहाँ से आ गए पंप सिस्टम था नहीं तो पानी लाना इसलिए चौपिंग बोर्ड कैरिंग वाटर ये दोनों पहले भी होता था मैंने तो उपलक्षण है इसी प्रकार सगल क्रियाकलाप जो पहले भी होता था हाँ। आत्म साक्षात्कार से पहले आत्म साक्षात्कार के बाद भी हो रहा है लेकिन अंतर इतना है पहले मैं करता था और अब हो रहा है पता नहीं कौन कर रहा है कौन करा रहा है इसे कोई मतलब नहीं अंतर इतना ही है शरीर भी रहेगा क्रियाकलाप भी होते रहेंगे आप वही खाओगे पियोगे यदि ब्रह्म ज्ञानी हो जाए तो ऊपर से आएगा देवता लोग भेजेंगे उसका भोजन नहीं वो भी तब भी आप ही को बना के खिलाना पड़ेगा तो फर्क कुछ भी नहीं लगता है बाहर से लेकिन आंतरिक जो स्थिति है जो दृष्टि है संसार के प्रति शरीर के प्रति और होता सकल घटनाओं के प्रति बिल्कुल अलग कला अहंकार पूर्विका है और तदनंतर मिथ्या हो रहा है मिथ्या होना अलग चीज है अहंकार वास्तविक कर्तृत्व होने एक अलग परस्पर विरुद्ध वस्तु है अहंकार पूर्वक वास्तविक कर्तृत्व तो यदि है तो बंधन है तो पुनर्जन्म होगा अहंकार रहित बाधित कर्तृत्व और भोक्तृत्व को लेकर के मिथ्या क्रियाकलाप के दृष्टिकोण से रहोगे तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता तीसरे भाव ही होने चाहिए मैं करता नहीं हूं ना हम करता तत्प्रयुक्त हो अहम ये होनी चाहिए तत्प्रयुक्त करो हम और कामना यदि भी कहे काम पूरा करो चाहे काम पूरा करो काम तो काम तो वापिस कर रहे स्मृति का तो इसलिए कामना की निंदा भी किया अपि प्रयत्न संपन्नम कामे नोपहतम तपहा न तुष्टे महेश पायसम सुंदर दृष्टान देकर समझा रहे हैं बहुत प्रयत्न लगा करके जिंदगी भर जोर लगा कर खूब प्रयास करके त्याग वैरागी के साथ खूब तपस्या किया इन अंत में कामना घुस जाए तो हाल वही है जैसे पूरा परिश्रम करके बहुत बढ़िया खीर आपने बनाई खीर पायसम खूब उसने काजू बादाम किशमिश सब डाला है बढ़िया बनाया है केसर भी डाला है सुगंध है पंगत बैठा दिया आप लोगों को और फिर एक कुत्ते को बुलाया स्वामी अब उसको पहले भोग लगाया तू खा बेटा और वो चाट गया फिर बाद में आपको पोरस हो गया तब भले वो जितना सुगंधी है जितना भी श्रेष्ठ है सर्व से जो जो है विटामिन से भरा पड़ा है लेकिन जब मूड ही खा लेगा आ गई ना बात जो मूड होते हैं ना वो लालची जो होते हैं वो जरूर उसे भी खा जाएंगे जो लालची दो भी नहीं होगा जो मूड नहीं होगा विवेकी होता है वो स्पर्श क्या करके देखेगा भी नहीं तदक कहते सारे तप जो कामना से संस्पर्शित हो गया तो सारा तप निरर्थक हो गया कुत्ते के चाटा गया खीर के समान ये दृष्टा इसलिए कभी भी कामना किसी भी अवस्था में कईयों को तो शुरू बढ़िया वैराग्य रहता है जब नए नए आते हैं महात्मा तो पूछो ही मत इतना वैराग इतनी श्रद्धा जहां भी लाल दिखा जाए वही दंडो बड़े प्रणाम फिर रहने लगते हैं बीच में पता लगता है सब भंडारा प्यारे हैं तो फिर धीरे धीरे वैराग्य हो जाता है वो श्रद्धा का भी वैराग्य हो जाता है विचित्रता ही है तो इसीलिए जो वो बने रहे आप इस अंत तक बना रहे बड़ा कठिन का यदि विवेक हो तो बना रह सकता है न जात काम कामाना उपभोगे न शाम्य से कामना कभी उपभोग करके संबंध कर नहीं सकते इसे हम जो भी कर्म करेंगे कोई तपस्या तो कर रहे जप करें अनुष्ठान करें कुछ भी कर रहे हैं एक ही संकल्प होना चाहिए वह एक संकल्प इतना ही है मैं अपने स्वरूप का अनुभव करना चाहता हूं मैं समस्त ब्रह्मांड का अधिष्ठान ब्रह्म तत्व का अनुभव करना चाहता स्वाभिन्न रूप से अनुभव करना यह संकल्प के अलावा कोई भी संकल्प कोई भी कामना हो बंधन का कारण ये संकल्प यदि चलता है उसकी सारी तपस्या सारा जब तक सारी जो है उपासनाएं सफल हो जाएगी अन्य जितनी भी कामना होते हैं उससे उपहत भी हो जाता है तो शरीर पायस के समान है ऐसा स्मृतिकार कथन करते हैं इसके लिए भी तप में आपको ऐसा कि भाई स्वाध्याय में कि प्रणव का जप करनी चाहिए तो मोक्ष शास्त्र अध्ययन प्रणव जप होगा हैं जप करने वाले मंत्र भी तो है वैदिक में भी दो प्रकार के मंत्र है अवैदिक बुद्धा तांत्रिक या स्मार्थ मंत्र में भी दो प्रकार वैदिक मंत्रों के अंतर्गत एक तो होता है प्रगीत मंत्र एक अप्रगीत मंत्र ओम का भी प्रधान पूर्वक भी हो सकता है अप्रधान पूर्वक भी प्रधान पूर्वी का जप में भी मात्राओं का ध्यान देना पड़ता है क्या आप चाहते अ मात्रा प्रदान उ मात्रा प्रदान म मात्रा प्रदान होकर के जो है प्रधान पूर्वी का जप हो चाहे अप्रधान पूर्वी का जप हो प्रगित अप्रगित उभयात्मक मंत्र होते हैं क्वचित केवल प्रगीतात्मक मंत्र है क्वचित केवल अप्रगीतात्मक मंत्र वेदों में विद्यमान है किस मंत्र का जप करना है कितना करना है कैसे करना है और से पंच उसके जो अंग होते हैं मंत्र का उसके जानकारी के बिना कभी करना ही नहीं चाहिए सबसे पहले उस मंत्र का देवता कौन उस मंत्र का ऋषि कौन उस मंत्र का छंद क्या है उस मंत्र का बीज और किलक क्या है और उस मंत्र का विनियोग क्या है ये पांच इसको जाने बिना और न्यूनतम न्यास त्रय को जाने बिना जब करने का पूर्ण फल कभी प्राप्त नहीं होता इसे मंत्रों की जब की जहां तक स्वाध्याय के अंतर्गत आता है तो वहां पर आपको प्रणव का भी जब करना हो तो प्रणव का देवता पर ब्रह्म देवता उसका जो छंद सप्त छंद सातों मानी गई है सप्त ऋषि सात ऋषि उसके ऋषि माने गए हैं उन सारी चीज को जानना पड़ेगा बीज किलक विनियोग अंगन्यास विन्यास जानना जरूरी है उसके बिना जो है जब करते हैं तो वह पूर्ण फल नहीं देता फल तो मिलेगा कुछ तो किए ही है फल मिलता जरूर है लेकिन जो लक्षित फल है उस लक्षित फल की भी पूर्ण फल प्राप्त और तांत्रिक मंत्रों में तंत्र वो तंत्र साथ से लेन देन नहीं वाम तंत्र का अवैध समस्त मंत्रों को तांत्रिक मंत्र कह देते हैं स्मार्ट मंत्र भी कहते हैं पौराणिक मंत्र भी कहते उसको आगम मंत्र भी कहा जाता इन मंत्रों में तीन प्रकार का भेद मुख्य रूप में माना गया स्त्री मंत्र पुरुष मंत्र नपुंसक मंत्रों में भी पुल्लिंग मंत्र है स्त्रीलिंग मंत्र है शब्द को देखकर नहीं है करना कि हाँ, सीता या नहीं सीता यही नमा मने वो स्त्रीलिंग मंत्र हो गया ऐसा अर्थ नहीं है जी मंत्र का पहचान मंत्र का पहचान ये सारी चीजें मंत्र महोदरी पुस्तक है विवेचन किया गया है समस्त मंत्रों के बारे में वहां वर्णन किया है उसको देखने से विस्तार अपने समझ सकते हो यदि करना है तो देख लेना है नहीं समझ में आवे तो पूछ लेना है अच्छा ये यम नियमाना आप यम का अनुष्ठान करना चाहते हैं नियम का भी अनुष्ठान करना चाहते हैं जीवन में दोनों को अपनाना चाहते हैं सेम बारम्बार से क्या फल मिलेगा इसे क्या जरूरत है तर्क वितर्क मन में चलता है बहुत कर लिया और कोई जरूरत नहीं छोड़ देते हैं मन से ही ये सब बाधाएं जो आते हैं तब करना क्या चाहिए तर्क वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम सामान्य में श्रेयांश बहु विज्ञानी भवन कोई भी श्रेय कर्म करना चाहे तो उसे बहुत सारे विघ्न और स्मृति कारण ने कह भी दिया है अल्पस काला बहवश्च अनंत शास्त्र बहुवेदित अव्यम अल्पस्थ काला भावश्च यदारभूतम तदुपासितव्यम हंसेव यथा क्षीरा अनंत शास्त्र है बहुत जानने योग्य बातें बहुवेदित और दुनिया के पदार्थों का तो त्याग करके बात हो रहा है यहाँ बहुवेदित इनसे दुनिया के वस्तुओं को जानना कंप्यूटर को जानना है वो जानना ये जानना वो बहुवेदित है उसकी बात नहीं कर रहे शास्त्रों में ही वेद्य बहुत सारे पदार्थ पराविद्य और अपराविद्या अपराविद्य में तो बहुत अनेक दर्शन अनेक ग्रंथ भाई कि इसका रहस्य तक पहुंचने में अनेक ग्रंथ पढ़ने पड़ता है चार भूतम तदुपासन दिया भगवान ने आयु बहुत कम उस आयु में भी इतना विघ्न है कि बस पूछिए मत आधे से जागसों समय तो नींद में चली जाती है सोते सोते चला जाता है यात्राओं में चला जाता है अन्य अन्य कार्यो में चला जाता है आधे से ज्यादा आयु इसमें बर्बाद हो और ये बचा कुछ आयु भी सकाम कार्यों में चला जाएगा इसे कहते हैं कि अल्पश्च काला बहवश्च जो सारभूत है वही ग्रहण करके उपासना करना चाहिए जैसा हंस करता है दूध और पानी मिला हो दूध मात्र को पी करके पानी को त्याग देता है ये विवेकी का काम इसके लिए विवेक का जरूरत है हमें देखना है हमारे साधना में कौन हमारे बाधक हुए अपना जिह्वा अपना मन अपनी अन्य इंद्रिया ये क्या चाहती हैं वो मुख्य नहीं है उसको महत्व नहीं देना चाहिए वह गौण महत्व साधना को दो और साधना में बाधक जो कोई भी इंद्रिय का विषय आपको मैं सोता उसको कर इसे बार बार कहता हूँ लेकिन डायरी मेंटेन कर रोज क्या खाते हो सुबह दोपहर शाम को इतना बजे खाए क्या खाए कितना खाए मेरा निश्चलता पूर्वक निष्कपट भाव से लिखो तो आप नहीं लिख रहे हो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं एक बार शिवानंद में ऐसे ही हुआ कि सब महात्माओं को एक कॉपी दे दिया गया कलम बैठा गया और भाई चिदानंद जी महाराज ने कहा सब लिखो और कोई पांच बजे उठ रहा है चार बजे डर महाराज जी निकाल तो न दे आश्रम होटल में आके वहाँ खा लिया पकौड़ी वो नहीं लिखेगा उन्हें खिचड़ी खाया आश्रम में चोर पकड़े गए तो ये आपके खुद का तुम नाश कर रहे सर लाभ गुरु को ठगने से क्या मिलेगा मैंने कहा कि सुधरने वाले है नहीं उन्हें एक ही फिर फार्मूला डाल दिया जो रामकृष्ण मिशन का फार्मूला है वो उन्होंने उस दिन सुनाया चिदानंद जी ने जनरल बॉडी मीटिंग में सुनाया eat like a bull sleep like a bull die like a bull and work like a खाओ खूब साठ जैसे काम करो सांड जैसे सो सांड जैसा मरो भी सांड तो सिद्धांत कर्मयोगी का तुम लोग इसी के लायक हो बोला समस्या है जो जिसका जब वे सब आ जाते हैं संगठन बढ़ता है जितना है ना उतनी कचरा अंदर ज्यादा हो जाता है कचरा ज्यादा गुरु शिष्य का संबंध ही बिगड़ जाता है गलत ज्यादा आ जाते तो क्या कर वो सही से भी मिल नहीं पाए ऐसे हो जाता इसे जब से वितर्क के द्वारा बाधित हो जाता है आपके साधना में कौन चीज बाधक है ये आपको ही पहचानना है कौन सा विचार बाधक बना किससे मिलने पर बाधा हुई कैसे विचारों पर चर्चा करने से बाधा हुई किस चीज को देखने पर बाधा हुई कौन सी बात सुनने से आपके साधन में बाधा आई है ये हर बात पर आपको ध्यान देना और जो जो उसका लिस्ट बना करके बिल्कुल उनसे अलग रहने का प्रयास तभी साधक साधना में आगे बढ़ पाता है वो इस बात को समझते अब हमने देखा कि एक बार वो नाश्ता बांट रहे थे वो ऐसी चीज थी जल्दी खराब होने वाली चीज थी वो तो उन्होंने कहा सबको ज्यादा ज्यादा दे दो लोगों ने भी खूब खाई <laughs> देखते रहे हमको छोटा महाराज जी कहते थे देखो तुम अपने प्रमाण निश्चय करो इतना मिनिमम जरूरत है नहीं तो बॉडी बगड़ बिगड़ेगा तुम्हारी जब भजन भी नहीं होगा शरीर भी नहीं चलने वाला इन्होंने लो इतना मेरे को सवेरे इतना इतना मात्रा में लेना है तो ज्यादा मिलेगा तो लोग नहीं एक्स्ट्रा उतनी मात्रा डालो आइटम कुछ भी हो वहां पे तुम्हारे सोचना है तुम्हें सोचना पड़ेगा लेकिन मात्रा तय होनी चाहिए मात्रा कभी भी लोभ लालच से अधिक नहीं होनी चाहिए न्यून हो नहीं एक बार कभी कभी अधिक कभी नहीं होना चाहिए बार बार छोटे महाराज जी कहते थे भाई जो प्रसिद्ध आप सुने भी है नाम छोटे महाराज जी का वो बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष ब्रह्म ज्ञानी थे वो साथ कहते जो व्यक्ति अन्न पर नियंत्रण नहीं करता वो साधक हो नहीं सकता असंभव मुख्य इसी पर नियंत्रण अपनाना जरूरी होता है कितना कार्य हो क्वालिटी बाद में दो मात्र अपने क्वालिटी के प्रति दिमाग काम करने लगेगा यदि क्वांटिटी पर पहले कंट्रोल कर वो आपको तय करना पड़ेगा आपको कितनी चाहिए इस शरीर को बनाए रखने के लिए और जितने कहने मात्र से आप आराम से बैठे ध्यान कर सके जब कर सके पढ़ सके समय समय पर जो कार्य आपका होना हो समय समय पर होनी चाहिए एक दिन भी आलस नहीं मिलना चाहिए रास्ते में आ रहे हैं कोई मिल गया गप मारते खड़े हो गया ये क्या है लक्ष्य को भूल छोड़ दिया भूल गया कहा जा रहे थे वहीं खड़े हो गए ऐसा नहीं होता वो भूंगी वाली कहानी याद है ना एक बार एक आदमी घर से निकला बड़ा लड़ाई झगड़ा हो गया घर में घर से निकल गया और चौड़ाई पे खड़ा हो गया सोचा कहाँ जाऊ क्या करूँ इधर जाऊं उधर जाऊं हम सामने जाऊं पीछे जाऊं किसी आश्रम जाऊं या कहीं दान प्रशासन ढूंढू या जंगल चले जाऊं या आत्महत्या कर लू क्या है कुछ दिमाग चल रहा है समझ में नहीं आ रहा इतने में भंगी जो है झाड़ू मारते मारते उसके वो झाड़ू मारने वाली कहती है अरे इधर हो जाए या उधर हो जा एक तरफ हो जा तो वो खड़ा है बीच हट ये गुरु ठीक है इधर हो जाए या उधर हो जा ये फालतू तो जो मैं ये करूँ वो करूँ वो करूँ ये करूँ वो करूँ वो करूँ अरे क्यों लफड़ा हट एक तरफ हो जाना है किस तरफ हो जाना है बस गया ना वहां से फिर वहां जाना नहीं बस चल दो सीधे चल पड़ा सन्यासी हो गया वहां से आया था ना फिर वहां जाना नहीं है फिर उसने क्या किया चमत्कार किया अंगिन ने इतना ही बोला नहीं वो थर्ड वर्ष से कहा तो दिया इधर हो जा इधर हो जाए उधर हो जा ऐसे कह करके वो तो उसको देखी यू हट नहीं रहा है थूकी वो हाँ? अकल नहीं वो समझ गया फूट के चाटना नहीं चाहिए ये बता रही है जिसको घर को त्याग दिया तो दोबारा उसके चिपकना नहीं चाहिए और दो उपदेश एक साथ मिल गया उस भंगीन से वो ज्ञानी हो गया कहने का मतलब है हमें शिक्षा लेना है तो विवेक आती है कब ये करना है वो करना है विवेक तब जगती है जब आप अन्य चीजों को तो शुरू कहीं ना कहीं से करनी पड़ेगी आपकी अपनी कमी को समझ करके आपके साधना में बाधक कौन है या प्रश्न योग सूत्रकार डालते हैं वितर्क बाधनी वितर्क मने आपके साधना के विरोधी विचार विरोधी चीजें सामने आने पर करना क्या चाहिए प्रतिपक्ष भावनम उसके प्रतिपक्ष में भावना उसके विरुद्ध में भावना महात्मा की याद खीर वाला बाबा याद है ना खीर बाबा एक महात्मा को मन बहुत तंग किया खीर खाने के कई दिनों से पहले जान भंडारा तो होता नहीं था ना यहाँ इतना देश में तो कुछ नहीं था तो बेचारे झोपड़े में रहते थे काली कमरे पर जीते थे काली कमरे वही रोटी मिलती थी दाल मिलती थी और कुछ नहीं एक दो राज में मछली जैसे तैरते थे तो दाल भी नहीं होता था पानी और ये डाल दिया थोड़ा चिरा छिया दिया हम लोग भी खा के जिए हैं ऐसी बात नहीं चार चार महीने उस पर चले लेकिन आश्चर्य उसको क्या मन तंग खीर चाहिए खीर चाहिए खीर चाहिए बहुत दुखी हुआ महात्मा तो भजन कर ध्यान करने बैठता हूँ तो खीर जब करने के बैठता हूँ तो खीर गंगा जो डुबी जा रहा हूँ तो मन कहते खीर तो क्या करे इसको उसे एक दो भगत को सूचना भेजा कि आप जो है सब आओ इधर थोड़ा पैसा वैसा ले आओ और चीजें ले आओ हम भंडारा करना चाहते बीस पच्चीस महात्मा वो लोग बेचारे सब ढोड़ा करके लाए बड़े भगवाने में सब बनाया क्या बना खीर बना और कुछ नहीं बनाना बोलती भगत भी सोची कैसा भंडारा केवल घी न पूरी न सब्जी न कुछ नहीं ये कैसी बात कर रही है तो फिर भी अब गुरु का आदेश क्या करें सब भगत नहीं हाँ ठीक है महाराज जैसे कह रहे हैं फर्स्ट क्लास खीर बनने के बाद आप लोग अपना प्रसाद लो और जाओ यहाँ से हम को खिलाया नहीं प्रसाद देखे भगा रहे तो बस जाओ तुम लोग यहाँ से बाकी हमने उसको भेज दिए भेज करके बैठे अब देखो मन तेरा तुम्हारा जो चाहता बहुत दिनों से तो कितना बढ़िया बना हुआ मिला है खा लिया खाते गए खाते गए कितने खाए पच्चीस आदमी का खीर था भगवान ने एक आदमी बेटा खा रहा है थोड़ा थोड़ा प्रसाद में दो दो चम्मच दिए हैं केवल बाकी सब वही है खाए जाए खाए जाए मन उब गया कितना मीठा मीठा ओके उल्टी हुई उल्टी उसी में किया उल्टी जान उसने मन को किताब खा तू खाना की क्यों नहीं खाता जबरदस्ती खिलाए फिर उल्टी फिर खा फिर उल्टी करते करते मन को ऐसा स्थिति में ले आए खीर नाम से कांपता था कोई खीर कहा जाए तो भागते नहीं चाहिए उनको अपने अपने तरीका कहने का मतलब है कि तरीका अपना अपना अलग है लेकिन जो आता है उसे प्रतिपक्ष के भावना के बिना उस वासनों का काट नहीं सूत्रकार कर यदास्य ब्राह्मण से हिंसा विदार का हाथ चाहिए जैसे कोई ब्राह्मण साधक है क्षेत्र साधक वैसे कोई भी हो ब्राह्मण से कह दिया मुख्य रूप हिंसा आदि वितर्क उसके सामने आ गए आप अहिंसा में रहना चाहते हैं लेकिन हिंसा मन में आ रही मारो पिटो उसको ऐसे आ रहा है मन बार बार कह रहा है मारो तो क्या कर दीवार को मारो और कुछ तो करना पड़ेगा ना तो ऐसा करने की जरूरत नहीं बाहर में दीवार से मारोगे तो हड्डी टूट जाएगी तो इसलिए कहते मन से उसको तोड़ो प्रतिपक्ष की भावना यदा हिंसा आदि वितर्क अस्य साधक से ब्राह्मण से चायरन हनिष्याम्य हम अपकार जैसे अभिनय का अधिकार है अपकारी है वो उसको मैं हनन करूंगा ऐसी इच्छा उपकारी का बात तो दूर है अपकारी का भी हनन नहीं करना ये है महाव्रत महाव्रत में तो किसी भी देशा वचन काला वचन परिस्थित अवचिन समय अनवच्छिन्न आपको करनी महाव्रत इसलिए महाव्रत करने वाला व्यक्ति को यम और नियमों का उस व्यक्ति को अपकारी का भी हिंसा नहीं करना है और अपकारी का हिंसा करने के लिए ज्यादा मन भागता है उपकारी का कौन हिंसा करना चाहिए जो आपके अपकार करे किसी प्रकार से उसकी हिंसा अनेक प्रकार से काया वाचा मनसा करने की सोचता है उसे घर बर्बाद हो जाए ऐसा बोलेगा और कुछ नहीं तो मन से इतना ही बोल डालेगा अजाब की सारी तपस्या बेकार चली जाएगी उसे घर तो जरूर बर्बाद हो जाएगा क्या आपका संकल्प है लेकिन आपकी तपस्या कहा गया उसे घर बर्बाद करने में खर्च हो जाएगा इसलिए अपकारी का भी हिंसा करने की जो मन में इच्छा जगती है उसको मन से काटना पड़ेगा इसका नाम वितर्क हिंसा जी का वितर्क के स्वरूप वर्णन कर रहे हैं हम अपकारिणम ये हिंसा वितर्क कहा जाता है और अंडतम अपे बक्ष्यामी अंडतम अपे बक्ष्यामी मैं झूठ भी बोलूंगा अप्रकांक्षित कर लूंगा ये जो भाव है वो सत्य का वितर्क है ये सत्य का वितर्क हुआ द्रव्यमप्य स्वीकृष्यामी जान रहे हैं ये दारू बेच के कमाया हुआ है गलत तरीके से कमाया हुआ है उस पैसे को स्वीकार करते हो तो वो हो क्या है ये स्वीकार करना स्टेय अस्तेय का वितर्क धारे व्यवाही भविष्यामी अमुक पत्नी में मैं संबंध करूंगा ऐसी जो इच्छा हो जाए वो ब्रह्मचरी का वितर्क है विरोधी है परिग्रह स्वामी भविष्यामी अमुक बटोर के रखा है उसको मैं अपनाऊंगा उसको मैं मांग लूंगा उसे ले लूंगा ऐसी जो भाव होता है ये सब परिग्रह अपरिग्रह का विरोधी है तो हिंसा विरोधी सत्य का विरोधी अस्थिर का विरोधी ब्रह्मचर्य का विरोधी और अपरिग्रह का विरोधी इनको कहते हैं वितर्क इनके द्वारा बाधित होने पर इतम मार्ग प्रवण वितर्क ज्वरे ना अति दीप्त उन मार्ग की ओर आपको झुका करके खेच के ले जाने वाला ऐसा जो वितर्क रूप ज्वर के द्वारा अति दीप्त ज्वर के द्वारा बाध्यमान तत्प्रतिपक्षान भाव जब ऐसा आपका चित्त इस वितर्कों से बाधित होने लग जाए तब आपको जो कोई काम करना नहीं है तुरंत बैठ जाए बैठ करके मन में उसके प्रति पक्ष की भावना करनी यदि हिंसा करोगे तुम्हारी सारा साधना विफल हो जाएगा तुम्हारा जो लक्ष्य तुम्हें प्राप्त नहीं करेगा ऐसे मन को समझाना इसको होता है ऑटो सजेशन थियरी आजकल की भाषा में इसको होते हैं ऑटो सजेशन प्रतिपक्ष भावना मन को पढ़ाना पड़ेगा ऐसे मत करो इसे कहते कभी भी कोई भी क्रिया करने को मन में आती है तो पहले उस क्रिया करने से पहले एक क्षण दो क्षण के लिए रुक करके उसके बारे में सोचो इसका नतीजा क्या है तब आगे करनी चाहिए इसे घोरेशु संसार अंगायश न मया शरण उपागत सर्वभूत अभय प्रदान योग धर्म ये भावना करनी जब हिंसा के इच्छा हो जाए तब ये भावना कर इस घोर संसार रूपी अंगारे में पड़कर जलता हुआ सुख दुख के जाल में फंसा हुआ पच्च पकता हुआ मेरे द्वारा शरणम उपागता मैंने उस अहिंसा और धर्म का शरण में आया था और आया हूं अतः मैं अब हिंसा और धर्म में नहीं जाऊंगा आगत कैसे शरण आये हुआ अहिंसा की सर्वभूत अभय प्रदानी सकल भूतों को अवय प्रदान के द्वारा मैं इस अहिंसा का शरणागत हूँ इस योग धर्म का शरणागत हूँ इसलिए योगम शरणम गच्छा ये तो कहते न धर्मम शरणम गच्छा बुद्धम शरणम गच्छा इसलिए कहते कि देखो ये भाव जब लाएंगे वो तो हिंसा मृत्यु